और जिस दिन जालिम अफसोस से अपने हाथ काटेगा वो कहेगा कि काश मैंने रसूल के साथ ही रास्ता इख्तियार किया होता